नित्यो नित्यानाम से मंत्र का प्रारंभ हुआ था हम्म, मंत्र हो गया इधानी परमात्मा ने उपपति युक्ति है नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्व अकल्पयद इत्यादि श्रुतेर अकृता अभ्यागम कृत विप्रणाश प्रसंग परिहाराच कल्पांतर्य भावानाम प्रलीनानाम कल्पांतरे सजातीय रूपेण उत्पाद प्रतीयते श्रुति माया आया चंद्रमसु धाता यथापुरम अकल्पयत सूर्यश्च चंद्रमाश्च इति सूर्या चंद्रमसु देवता द्वंद्व से दीर्घ हो जाता है धाता परमात्मा ने उनको यथापुरम अकल्पयत जैसे पूर्व कल्प में था ऐसे ही उनको बनाया कल्पना की ये कल्पना ही सृष्टि है इत्यादि श्रुतेर ये कि श्रुति प्रमाण है पूर्व कल्प में जैसे था ऐसे उत्पत्ति होती है केवल सूर्य चंद्रमा नहीं सब कुछ ऐसे पूर्व कल्प जैसे था ऐसी उत्पत्ति होती है अभी जिसकी उत्पत्ति होती है पहले पूर्व कल्प में था जो जीव अभी इस कल्प प्रारंभ में आया वो भी पूर्व कल्प में था यदि ऐसा नहीं मानेंगे पूर्व कल्प में नहीं था और नया जीव की उत्पत्ति किसी सृष्टि प्रारंभ में मानेंगे तो जन्म होते उसको कष्ट सुख दुख होता है किसी भी जन्म में वो कुछ खाता है तो क्षुधा निवृत्ति होती पहले दुख है फिर सुख और कष्ट होता ही है सुख दुख होता है वो सुख दुख फिर उसका कारण क्या है सुख का असाधारण कारण धर्म पुण्य है दुख का है पाप अभी जन्म होते उसको सुख दुख अभी तो कोई पुण्य का पाप कर्म नहीं किया तो इसलिए पूर्व कल्प में पूर्व कभी कही क्या था पुण्य पाप उसका फल भोग कर रहा है इसी जन्म प्रारंभ में सुख दुख भोग करता है तो पहले उसका जन्म था ये मानना पड़ेगा नहीं मानेंगे तो पहले सुख दुख होता है नहीं किए हुए कर्म फल भोगना पड़ता है उसको कहते अकृत अभ्यागम अकृत न कृत अकृत तस्य अभागम प्राप्ति पुण्य पाप कर्म नहीं किया किंतु उसका फल सुख दुख प्राप्त करता है इसको कहते अकृत अभ्यागम ये अनुचित है किसने पुण्य कर्म नहीं किया सुख उसको मिलेगा ये सह नहीं सता है दुख मिलता है तो उसने पाप कर्म किया था कोई निमित्त बन जाता है अलग बात है किंतु पाप कर्म किया था तभी दुख मिलता है उसके बिना कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है मानेंगे तो अकृत अभ्यागम एक दोष है और इसी प्रकार यदि पूर्व कल्प में नहीं था अभिजन्म नया आया प्रलय काल में समाप्त हो जाएगा दूसरे कल्प में नया बनेगा तो इसी कल्प में इस जन्म में इसी कल्प में हो इस जन्म में हो कुछ पाप पुण्य कर्म क्या मर गया समाप्त हो गया आगे फिर नहीं रहेगा तो किए हुए पुण्य पाप फल दिए बिना नष्ट हो जाए कृत विप्रनाश कृतस्य कर्मण विप्रनाश कर्म करता है तो अवश्य उसका फल भोगना पड़ेगा फल दिए बिना नाश नहीं हो सकता है केवल ज्ञान से ध्वंस होता नष्ट होता नहीं तो नाश नहीं होगा तो कृतस्य विप्रणाश कृत विप्रणाश ये भी दोष है कर्म यदि नहीं फल दे नष्ट हो जाए तो शास्त्र वेद प्रमाण से व्यर्थ हो जाएगा याग आदि विधान किया गया कुछ हिंसा आदि का निषेध किया गया विधि निषेध शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा अनर्थक हो जाएगा शास्त्र प्रमाण्य है इसलिए कृत अभ्यागम अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाशी दोनों दोष का प्रसंग होगा यदि पूर्व कल्प में नहीं था इस कल्प में नया सृष्टि मानेंगे पूर्व जन्म में जीव नहीं था इस जन्म में पहला जन्म हुआ मानेंगे तो ये दोष आपत्ति होने से अनादिकाल से जीव है अभी जो जन्म हुआ पहले था पूर्व कल्प में था पूर्व जन्म में सुख दुख होगा उसके पहले था उसी कल्प में पहले भी सुख दुख भोग करता है तो उसके पहले था इसी प्रकार अनादि काल से ये यह सृष्टि जीव ऐसे चल है बराबर समान है नहीं तो ये दोष की आपत्ति है कृष्ण अकृत अभ्यागम कृत विप्रणास दोष प्रसंग परिहाराच ये दोष प्रसंग का परिहार करने के लिए यही समाधान करना पड़ेगा कल्पांतर भावानां प्रलीनानां कल्पांतरे प्रतीति उत्पादन पूर्व कल्प में जो पदार्थ थे लीन हो गए आगे दूसरे कल्प में इसी कल्प में फिर उत्पत्ति होती उनकी उत्पाद उत्पाद किस प्रकार सजातीय रूपेण जैसे कोई व्यक्ति सो गया राजा जगने के बाद वो राजा रहता है और कोई भीख मगा गाढ़ निद्रा में सो गया सुश्रुति अवस्था में राजा और भीख मगा में कोई भेद है दोनों गाढ़ निद्रा में सो गए किंतु उठने के बाद भीकमगा अपने रास्ता में चलेगा राजा अपने स्थान पर है सोते समय कोई वेद पता नहीं किसको कल्पांत सजातीय वो जैसे कल नया कल्प में उसी रूप से उत्पत्ति होते सजातीय रूपण उत्पाद उसी रूप से सजातीय इसलिए कहते वही न व्यक्ति नहीं रहा क्योंकि शरीर आदि नष्ट हो गया फिर नया बना सूर्यमंडल चंद्रमा नष्ट हो गया नया बना तो सजातीय रूपेण उत्पाद होता है ये प्रतीत होता है एक श्रुति है यथा पूर्वम श्रुति और अकृत अभ्यागम कृत विपणा से दोष परिहार करने के लिए ये मानना पड़ेगा स यदा स तदा स्याद यदि विनाशिना भावानाम शक्ति से सोलय स्याद लय लय होने के बाद फिर सजाति उत्पन्न कैसे माने उत्पत्ति तभी संभव होगा जो भाव पदार्थ का विनाश हुआ उनका कुछ शेष रह गया शक्ति रह गई कारण उसे सूक्ष्म रूप से रहा फिर वो प्रकट हो जाएगा सुश्रुति अवस्था में बिल्कुल यदि समाप्त तो हो जाए कुछ नहीं रहे तो फिर यह जगते समय वो क्यों आएगा इसलिए सुसुप्ति अवस्था में अंतकणादि अज्ञान में लीन होते अज्ञान कारण रहता है और अंतकणादि लीन होते मतलब अंतकण सूक्ष्म रूप से रहते हैं संस्कार सब रहता है पुण्य पाप भी सब रहते हैं अंतकण में वो अज्ञान में लीन हुआ जब जगेगा अपना संस्कार लेकर के पुण्य पाप लेकर के आएगा नहीं तो किसको रोग था सो गया उठने के बाद स्वस्थ हो जाना चाहिए उठने के बाद वो जो रोग था उसका कहीं फोड़ा निकला था उठने के बाद वो फोड़ा मिलेगा कष्ट होगा उसको बाद से कष्ट होगा सो गया तो पता नहीं चला उठते समय वही सब हो गया जो जैसा था अच्छा जो कुछ पहले था कंठस्थ था उठने के बाद वो स्मरण कर सकता है अपना नाम याद होता है उठने के बाद संशय होना चाहिए मैं कौन करेंगे पूरा जो संस्कार था वही लेकर आता है पूरा तुरंत में किसने मुझे क्या कहा तुरंत स्मरण करता हाँ कालू जी ने मुझे कहा था आज उसको मैं छोड़ूंगा नहीं शुरू से उठ करके शुरू <laughs> हो जाता है प्रारंभ से पूरा याद कंठस्थ रहता है हाँ कभी सूत्र याद का कंठस्थ नहीं रहे वो बात अलग है झगड़ा राग द्वेष तो बिल्कुल <laughs> पहले ही प्रातः स्मरण होता है उठते ही तो इसमें संस्कार रहता है स्मरण होता है जो संस्कार रहता है जिसके कारण स्मृति होती है उसमें रहता है वासना भी रहती है जो कार्य किया था आगे वो कार्य करता है तो वो सब सूक्ष्म रूप से रहता है शक्ति से चले इसलिए अज्ञान सुश्रुति अवस्था में रहता है कारण अज्ञान नहीं रहेगा तो आगे जगेगा नहीं कारण के बिना कार्य नहीं होगा तथा प्रलय विनश्यत सर्वम यति शक्ति से सम विलियत विलियते स्वभिपगंतव्य इत्यर्थ प्रलय काल में सब नष्ट तो होगा किंतु शक्ति से सम यथा स्यात् तथा विलियते शक्ति रहेगी कारण रूप से तो मानना पड़ेगा तो फिर सृष्टि होती बुद्धिमतामपि परमानंदा परमानंदाभिमुख्यमित्वा या बहिर्मुखा चेतन उपलभ्यते चेतना उपलभ्यते सापि नियंतारम गमिति त्याह बुद्धिमतामपि ब्रह्मेन्द्रादिना देवताओं की बुद्धि बहुत है अच्छी है जीव जितने पढ़ सुन करके जानेगा देवताओं को ज्ञान है फिर भी वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं वैराग्य नहीं होता है क्योंकि स्वर्ग में गए सुख भोगने के लिए पुण्य कर्म करके तो भोग में आसक्त भोग तो तभी होगा भोग में भी भोग करने की इच्छा हो आसक्ति हो तभी भोग होगा पूरा विरक्त जाकर वहां बैठेंगे तो भोग क्या होगा भोग करने के स्वर्ग गए वहां जाकर विरक्त होकर बैठ जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता हम भोग करेंगे तो बुद्धिमताम अपि ब्रह्मा हो इंद्र हो बड़े-बड़े देवता भी जानते हैं ब्रह्म ज्ञान परमानंद अपने स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप वो परमानंद के आभिमुख्य उसको छोड़ करके हित्वा त्यक्त्वा या बहिर्मुख चेतना उपलब्ध है बहिर्मुख चेतना ये बाहर सो विषय ग्रहण करना सुख दुख अनुभव करना ये जो मान होता है सापि नियंतारम गमे तो कोई नियामक है जैसे वासना है वही वासना रहेगी जिसके लिए कर्म किया वही फल भोगेगा उसको भोगना ही पड़ेगा यदि उपासना करके देवत्व को प्राप्त किया जाकर देवता बन के सुख भोग करेगा वहां कहेगा हम सन्यासी बन जाएंगे वहां नहीं चलेगा सन्यासी बनने के लिए वहां भोग पहले कर लो फिर कभी मनुष्य जन्म मिलेगा वहां भी यदि वैराग्य होगा किसी जन्म का विशेष पुण्य हो जो पुण्य कर्म किया जाता है स्वर्ग आदि भोगने के लिए वो पुण्य कर्म वैराग्य का कारण होगा या नहीं वो वैराग्य का कारण नहीं होगा वो तो राग का कारण भोग करेगा जब ईश्वरार्पित बुद्धि निष्काम होकर कर्म कोई क्या होगा उपासना भक्ति आदि वही अंतकोण शुद्धि के द्वारा वैराग्य का कारण फिर वैराग्य होने से सन्यासी बने नहीं बने वो अलग है किंतु देवत्व को प्राप्त करने पर वैराग्य नहीं होता है इसलिए वैराग्य नहीं होने के कारण उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है भोगासक्त होने से अभी भी जिनको भोग में अधिक आसक्ति है निश्चय कर लेना ज्ञान कभी नहीं होगा अपन रास्ता दूसरे रास्ता पकड़ लाना चाहिए कोई कोई सोचते हम तो दूसरे रास्ता पकड़ कर बैठे हैं पहले से <laughs> जो दूसरे रास्ता जब भी इधर इच्छा नहीं ना तो दूसरे रास्ता पर चल रहे खुश होकर के अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है श्रेय प्रेय दो विभाग पहले बहुत अच्छा लगता है प्रेय मार्ग आगे क्या होगा याद कर पूछेंगे जब पता चलेगा ना उस समय का और कुछ करने का नहीं किस किस को अंत काल में मरने के पहले होश आता है अरे क्या मैं क्या सारा जीवन भर आया था भजन साधन करने के लिए कहाँ चला गया और उस समय कुछ करने का नहीं मरने के लिए भी परेशानी मरना चाहता तो भी नहीं, नहीं मरेगा क्योंकि कर्म शेष बाकी रहता भोग करके जाना पड़ता है तो उस समय पश्चाताप करते हैं कि महम पापम अकरवम कि महम पुण्यम नाकरवम अज्ञानी को पश्चाताप बहुत कष्ट होता है ना किसको बता सकता है ना कुछ कर सकता है बता दे तो, तो कम से कम उसके अन्य बच्चे हो अथवा चेले शिष्य हो सावधान हो जाएंगे ऐसे में क्या था दुख पश्चाताप होता है तुम तो ऐसे नहीं करो ये नहीं होता है कि ना किसी को बता सकता है ना कुछ कर सकता है अब बहुत कष्ट से मरता है इसलिए समझदार को वो कष्ट नहीं प्राप्त हो अभी से सावधान होकर के रास्ता पर चलना चाहिए नहीं तो श्रुति प्रमाण है अंतकाल में बड़ा पश्चाताप होता है कोई नियामक है इसलिए जिस कर्म कर जिस फल के लिए वही कर्म भोगेगा स्वर्ग गया सुख भोगने के लिए वैराग्य नहीं होगा वैराग्य नहीं होने से परमात्मा भी मुख्य छोड़ करके बस उसी में हाँ स्वर्ग सुख में आसक्त रहते हैं ये साप नियंतारम तो कोई नियामक है जब परमानंद के अभिमुख छोड़ करके बहिर्मुख भोग करते हैं बड़े-बड़े देवताلو ಸಮದಾರೋಕರಿಗೆ کوئی ನಿಯામ કહે ನಿಯಂತರಂ ಗಮೈತಿ ಇತಾ ಚೇತನಸ್ಯ ಚತನನಾ ಚತನಗಾವಿ ಚೇತನಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ শব্দವಾಚ್ಯನಾಂ ಸಂಘಾತನಾಮ ಚೈತೈತ್ರತ್ವಂ ಯ ಚೈತನನಿಮಿತಂ ସୁଅସ୍ତି ପରାତ୍ମା ଏତର୍ଥ ଚେತನକାವಿ ಚೇತನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ শব্দವಾಚ್ಯನಾಂ ಸಂಘಾತನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ଯୋ బ్రహ్మ ହୋ ଇନ୍ଦ୍ର ହୋ चैत्र हो मैत्र हो सब का लक्ष्यार्थ है कि बिंब रूप चेतन है जो कोई जीव है जैसे तम शब्द का लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन है चिन्ह मात्र जितने प्रतिबिंब दिखते हैं चंद्र का प्रतिबिंब हजार दिखेंगे बिंब कितने हैं एक ही चंद्र रूप बिंब है किस प्रतिबिंब का वो वास्तव में बिंब स्वरूप है सारे प्रतिबिंब का वास्तव रूप कितने बिंब है इसी प्रकार सारे जो जीव है चिदाभास उनका वास्तव लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य एक है वाच्यार्थ अनेक है जिस प्रकार चंद्र का प्रतिबिंब अनेक है इसी प्रकार यहाँ शरीर घड़ा है उसमें अंतकण है जल के स्थान पर चिदाभास दिखता है इसमें भेद है सब का लक्ष्यार्थ एक शुद्ध चेतन ब्रह्म है ब्रह्मा इंद्र वरुण मनुष्य पशु सब का लक्ष्यार्थ तो शुद्ध चेतन ब्रह्म ही है किंतु वाच्यार्थ में भेद है ब्रह्मादि वाच्यानां ब्रह्मादि शब्दवाच्य ब्रह्मादि आकार विशिष्ट अलग अंतगण प्रतिबिंब को लेकर के ब्रह्मा शुद्ध चेतन को ब्रह्मा मनुष्य पशु कुछ नहीं कहा जाता है शुद्ध चेतन में मनुष्यत्व तो नहीं देवत्व नहीं पुरुषत्व नहीं स्त्रीत्व नहीं वो शरीर आदि आकार को लेकर के कोई देवता कोई पशु कोई मनुष्य ये सब व्यवहार होता है तो वाच्य में अथवा जो देह का संघात समुदाय है उसमें चेतयित्वम चेतन दिखता है दीवाल में चेतन नहीं दिखता है ये सो कार्य कौन संघाते सब मनुष्य हो पशु हो देवता हो इसमें जो चेतन दिखता है चेतयित्वम चेतन व्यवहार करता है वास्तव चेतन पृथ्वी जल वायु आदि में है ही नहीं संघात तो भौतिक है भौतिक पदार्थ में जो चेतन दिखता है यह चैतन्य निमित्तम चैतन्यम जिस चैतन्य के कारण ये चैतन्य दिखता है वो चैतन्य मुख्य है स्वस्ति पर आत्मा वही परमात्मा है अनेक प्रतिबिंब दिखता है ये जो प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है जिस बिंब के कारण वो बिंब प्रतिबिंब से भिन्न है या नहीं भिन्न है जिस बिंब के कारण सारे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वो बिंब रूप से अलग है इसी प्रकार सारे भौतिक देह है जड़ उसमें चिदाभास चेतन दिखता है जिसके कारण इनमें चेतना चेतना की उपलब्धि होती है वो प्रतिबिंब रूप चिदाभास जिस बिंब रूप चेतन के कारण वो बिंब रूप चेतन अलग है स्वति परात्मा भाष्य में नित्यो नित्यो का तो अविनाशी अनित्यानाम विनाशिना विनाशिना मध्ये अविनाशी एक तत्व है सारे पदार्थ सब विनाशी है कि अविनाशी तत्व है दृग रूप चेतन चेतन चेतनानाम चेतैत्रिणाम ब्रह्मादीनाम प्राणिनाम जितने प्राण दान करने वाले प्राणी प्राणा संतिति प्राणी न प्राणा संतिति प्राणी प्राण अस्य अस्तिति प्राणी प्राणपान भेद से प्राण बहुत प्राणी है प्राण वाले जीव अग्नि निमित्तमेव दाहकत्व अनग्नि नाम उदकादि नाम जल गर्म हो जाएगा तेल गर्म हो जाएगा उसको स्पर्श करें तो कुछ कष्ट होगा हाथ में दाहक है जल में जो दाहकत्व तैल घृत आदि में जो दाहकत्व किसके कारण अग्नि निमित्त अग्नि निमित्त में दाहकत्वम अनग्नि नाम अग्नि भिन्ना नाम उदक आदि नाम उदक को गर्म करो पानी को पी लो देखो कैसे गला में होता है तैल घृत लोहा गरम करो कितने दाहकत्व है किंतु वास्तव जल में तेल में लोह में दाहकत्व नहीं अग्नि निमित्त है उसमें दाहकत्व अग्नि ही निमित्तम यस्य दाहकत्वस्य तो दाहकत्व अग्नि निमित्तम अग्नि के कारण अनग्नि में अग्नि भिन्न में जल आदि में दाहकत्व है इसी प्रकार जड़ में भौतिक शरीर में चेतयित्व दिखता है जिसके कारण जिस चेतन बिंब रूप चेतन के कारण इसे चिदाभास दिखने से इनको हम चेतन कहते हैं दीवाल को चेतन नहीं कहते ये सब बैठे चेतन है पशु पक्षी चेतन है बिंब रूप चेतन जिसके कारण वो अन्य है आत्मा आत्म चैतन्य निमित्तमेव चेतयित्रित्वम अनेषाम आत्म चैतन्य दीर्घ रूप चेतन है उसके कारण बाकी सब में चेतयित्रित्वम चेतनावत्वम चेतन जिसे कहा जाता है चिदाभास को लेकर के अन्यसाम एक सूर्य प्रकाश है उसके प्रतिबिंब दर्पण में जल में दिखेगा तो जल दर्पण भी प्रकाश दिखते हैं जिस चेतन जिस प्रकाश के कारण अप्रकाश जल में दर्पण में प्रकाश दिखता है वो अलग है ये सब शरीर में अंतकण है ये जड़ है फिर भी चेतन दिखता है जिस बिंब रूप चेतन के कारण वो चेतन मुख्य एक अद्वितीय सबका लक्ष्यार्थ वही चेतन है वाच्यार्थ में भेद है चंद्र एक आकाश में प्रतिबिंब अनेक के इसी प्रकार चेतन दृग रूप बिंब रूप चेतन आकाश के समान व्यापक एक अद्वितीय है उसका प्रतिबिंब चिदाभास अनेक दिखता है वो चिदाभास अनेक होने से जीव अनेक दिखते हैं जीवों का वाच्यार्थ में भेद है और कोई ब्रह्मा है कोई इंद्र है कोई मनुष्य है कोई पशु है कोई पुरुष है कोई स्त्री है कोई ब्राह्मण है कोई शूद्र है ये सब भेद होता है इसको लेकर के उपाधि का भेद उपाधि को लेकर के चेतन तो वास्तव चेतन में कोई भेद नहीं है ना कोई धर्म है टीका में विमतम कर्मफलम तत्स्वरूपादि अभिज्ञान दीयमानम व्यवहित फलत्वाद सेवा फलवदित्याह कर्म का फल कोई देता है लोक में बहुत कर्म करते हैं सेवा करते हैं राजा के पास सेवा का फल कर्म का फल दो प्रकार एक व्यवहित फल एक अव्यवहित फल अव्यवहित फल होता है भोजन करो तृप्ति कितने साल के बाद एक दिन के बाद खाते का तृप्ति जब तक तृप्ति नहीं तब तक भोजन पूरा नहीं हुआ अव्यवहित फल उसको कोई देने का नहीं है किंतु जो व्यवहित फल है कोई देगा जैसे सेवा करते हैं दिन भर काम करेंगे शाम को रुपया मिला नहीं तो महीना भर काम करेंगे अंत में रुपया मिलेगा वेतन तो ये सेवा फल जैसे व्यवहित फल होने के कारण फल देगा कौन फल देने के लिए ऐसे कुछ काम क्या क्या नहीं क्या नहीं दे करके लोग रुपया दे देते हैं देखते देखना पड़ता है कितने दिन काम किया क्या काम कौन करता है सबको बराबर दिया जाता है क्या किसको बहुत किसको कम कि कोई किस प्रकार काम करता है सब अपने अपने काम कितने दिन काम किया कैसे काम किया इसको दे करके फल देते हैं तो जो जानता है किसका कौन कर्म किस कर्म का कितने फल वो जानने वाला ही फल देगा यहाँ जो कर्म फल मिलता है अभी कर्म करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए या कर्म किया या करते स्वर्ग नहीं जाता है मरने के बाद जाएगा पाप कर्म भी बड़े प्रयत्न पूर्वक करते हैं तुरंत दुख नहीं मिलता है लोग खुश होते ही तेरे मैं कर्म कर लिया कुछ नहीं बिगड़ा मेरा किंतु नहीं बिगड़ा कि आगे भोगना पड़ेगा पाप कर्म क्या तुरंत यदि कष्ट नहीं मिला तो पाप कर्म नष्ट हो गया पाप कर्म फल भोगने के बाद नष्ट होगा आगे भोगना पड़ेगा तो कर्म का फल पुण्य पाप कर्म फल व्यवहित फल है तुरंत नहीं मिलता है तुरंत मिल जाए तो कोई पाप कर्म नहीं करता दंड कोई दे नहीं दे तो पाप कर्म करते ही यदि फल मिल जाए तो डरते लोग पाप कर्म से क्यों नहीं डरते कुछ नहीं होता है आगे देखा जाएगा क्या होगा उस समय तो रोएगा हाँ, हाँ मुंचा मुंचा छोड़ो आगे गलती नहीं करेंगे किंतु इस समय ऐसा नहीं मानेगा और यदि तुरंत फल मिल जाए तो डरते पाप कर्म करने के लिए ये व्यवहित फल अब व्यवहित फल देगा कोई जो जानता है कर्म फल सो जानने वाला इसलिए कोई छिपा कर पाप कर्म करेगा तो उसको परमात्मा कोई फल देंगे या नहीं देंगे पाप कर्म जिस प्रकार किया किसको पता नहीं चला तो भी फल भोगना पड़ता है इसी प्रकार सत्कर्म यदि किया किसको नहीं बोला किसको बताया नहीं तो उसका कोई लाभ है कोई फल देगा इसलिए सत्कर्म करने पर बोलना नहीं चाहिए बल्कि पाप कर्म करे तो बोले बताए धर्म क्षरति कीर्तनाद कथन कर्ण से नष्ट होता है पुण्य अथवा पाप किंतु उसके विपरीत करते हैं पाप को नहीं बताएंगे पुण्य को बताएंगे उसका विपरीत करें तो कर्म फल देगा जितने छिपा कर कोई कर्म करे परमात्मा जानते हैं समय पर फल देते हैं चतुराई बुद्धिमता नहीं हम इसे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा नहीं फल देने वाला कोई उनको कोई नहीं छिपा सकता है ना कोई रोक सकता है समय पर फल मिलेगा उनको आकर के बोलना नहीं पड़ता है वो तो लाठी के द्वारा फल मिलता है लोहे के लोहे के दंड से वहां कहने का नहीं है दंड में दो चार प्रहार हो जाता तो पर यार रोने का खाली होता और कुछ नहीं तो कर्म फल भोगना पड़ता है देगा कौन जो जानता है किसका क्या कर्म किसका क्या फल जानने वाले विमतम कर्म फल को पक्ष बनाया विमत क्या हो विवाद विरुद्ध मतम विमतम कर्मफल कोई कहता कर्मफल कौन देता है नहीं देता है कौन देगा कोई दे सकता है कि नहीं तत्स्वरूपादि अभिज्ञान दीयमानम तत्स्वरूप कर्म का स्वरूप आदि से फल किस निमित्त तो किस काल में इसका फल मिलेगा क मिलेगा किस कर्म क पक्का होगा ये सब जानने वाले देता है मानना पड़ेगा कर्मफल कर्मफल तुरंत नहीं मिलता है व्यवहित फल है जो व्यवहित फल होता है हेतु है व्यवहित फलत्वात व्यवहित फल होने के कारण क्या होगा स्वरूपादि अभिज्ञान दीयमानम जैसे सेवा का फल सेवा का फल देगा जो मालिक देते हैं स्वरूपादि अभिज्ञान मालिक स्वयं अथवा मालिक इसको रखते देखो कौन क्या करता है स्वरूप कर्म का स्वरूप फल क्या है आदि से किस निमित्त मिलेगा कब मिलेगा कितने फल स्वर्ग जाएगा तो सबको स्वर्ग बराबर नहीं है कोई स्वर्ग जाएगा थोड़े दिन के लिए कोई स्वर्ग जाएगा बहुत साल बहुत दिन के लिए एक स्वर्ग जाने वाले सब सब बराबर सुखी नहीं उसमें भी भेद है ये नरक में भी भेद है कोई बहुत दिन रहेगा कोई कम दिन रहेगा कोई अच्छे दुख गया कोई थोड़ा दुख भोगेगा विभिन्न प्रकार है तो कर्म कर्म के फल कितने दिन के बाद मिले सो जानने वाला ही देगा कर्मफलम स्वरूपादि अभिज्ञान दियमानम व्यवहित फलत्वा तो सेवा फलवत इत्याह किंच स सर्वज्ञ भाष्य में सर्वेश्वर कामिनाम संसारिणाम कर्मानुरूपम कामान कर्मफलानि स्वानुग्रह निमित्तान च कामान एवक बहुनाम अनेकेषाम अनायासन विदधाति प्रयच्छति ते यो एको बहुनाम यो विदधाति कामान एक होते बहुत को जो काम फल काम्य देता है विषय फल देता है वो सर्वज्ञ होने से ही कर्म फल दे सकता है कौन क्या कर्म करता है जानता है कब किसका फल मिलेगा किसको कहां जन्म मिलेगा परमात्मा जानते हैं किसने क्या कर्म किया उसका फल इस प्रकार वो कहां जाने पर उसका फल मिलेगा इतने सारे मरेगा तो कहाँ जाने पर कैसा मरेगा एक वर्ष से 50 मरने वाले हैं तो कौन कहाँ जन्म लिया किंतु किसका कर्म मरने का समय हो गया उनको एक वर्ष में बैठाना ठीक है किसका काम है <laughs> कोई आदमी बैठा सकते है कोई भी सरकार कोई नहीं कर सकते ऐसा वो जो परम बड़े सरकार है परमात्मा सब सरकार के ऊपर बड़े वही अपने आप उसी पर बस में सब बैठेंगे जो उनको मरना है सब खत्म हो जाएगी कोई वचन आया तो वो सम थोड़े नीचे पीछे आया सब लोग नाराज होकर चले चलो छोड़ दो उसको वो रोता है मुझे छोड़कर चले गए मेरे पास कुछ नहीं हमारे सो परिवार छोड़े वो नाराज हो चलो इतने देर करता है किंतु मरने वाले मर जाएंगे बचने वाला बच जाएगा कहाँ जहाँ जो होता है किसी दैवी रूप के पास से वन्या हो भूकंप हो मरते वहीं के लोग वहीं मरते या बाहर के लोग आते कभी वहीं के लोग कहीं बाहर बैठे स्वस्थ बाहर के लोग आए वो खत्म हो गए तो ये सब सर्व जानने वाला कहाँ कर्म फल कब मिलेगा सर्वज्ञ ही दे सकता है फल मत उपपत्ते है ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने बनाए परमात्मा ही फल देगा क्योंकि वो संभव वही दे सकते हैं अन्य अज्ञान नहीं दे सकता है आप यदि कहे कोई लोग बड़ा कहते परमात्मा इतने दुख देता है दुख दे क्यों परमात्मा दुख देगा तुमने तो कर्म किया तुमको यदि दे दिया जाए तुम फल दो सबको सुख बना सुखी बना दोगे नहीं निश्चित है कहाँ क्या करना पड़ेगा उसके अनुसार करना पड़ेगा तो सर्वज्ञ होना चाहिए और सर्वेश्वर सब कोई जानता है ये कर्म क्या क्या है क्या नहीं क्या है सब के पास अधिकार नहीं फल देने के लिए फल देने के लिए सामर्थ्य भी होना चाहिए किसको नरक भेजना किसको स्वर्ग भेजना इसलिए से सामर्थ्य हो तो भेज सकता है नहीं तो कोई सोच कर से बहुत कर्म क्या उसको वही राजा बन जाना चाहिए लोग कल्पना करते ये बड़ा योग्य ये राजा बन जाना चाहिए ये अयोग्य राजा नहीं बनना चाहिए सोचते रहते जो बनना है बनता है मनुष्य क्या करता है तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर हो सबको जानने वाला सर्वज्ञ सब से ईश्वर समर्थ फल देने के लिए कामी नाम संसारी नाम कर्मानुरूपम काम वाले संसारी है फल प्राप्त करे कर्म के अनुसार कर्मानुरूपम कामान विददाति कामने काम्य कर्म फला कामना का विषय कर्म का फल सुख दुख उसका निमित्त साधन स्वानुग्रह निमित्तांश कामान अपना अनुग्रह के कारण का अनुग्रह करके देते हैं यह एको विदधाति एक होकर के परमात्मा बहु नाम एक ही मालिक अनेक सेवा कर्म करने वाले को फल देता है एक ही परमात्मा बहु नाम जीवों का अनेक साम अनायास ने विदधाती बिना प्रयत्न उनको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है बड़े मालिक उनको काम करेंगे हजार लोग काम करते बहुत रुपया देता है उसके पास बहुत ही इस प्रकार परमात्मा को फल देने के लिए कोई आयास प्रया चेष्टा नहीं उनके भी बहुत काम करने वाले उनके अधीन में है सब काम अपने आप करते हैं नरक जाने वाले को फल देने के लिए वहाँ के लोग बैठे फल देने वाले स्वर्ग जाने वाले वहाँ भी आ, बुला कर लेंगे नृत्य गीत आदि संगीत आदि वहाँ मिलेगा जहाँ जैसे सुख दुख मिलना ठंडी गर्मी सब फल देने के सौतर निश्चित है परमात्मा को संकल्प मात्र से अनायास न बिना प्रयत्न सबको कर्म फल देता विददाति प्रयशति तेत ऐसे कोई है तो कर्म फल देता है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कोई नहीं होगा तो कर्म फल कौन देगा लोग कर्म क्यों करेंगे किसके भरोसे पर करेंगे यजे तो स्वर्ग काम श्रुति कहते याग करे स्वर्ग चाहते तो याग करते स्वर्ग नहीं मिलता है फिर भी लोग करते यज्ञ दान तप दान भी करते तप भी करते और कोई फल देने वाला है परमात्मा ये सबको मालूम है बहुत लोग जानते करते हैं पाप से डरते हैं और जो बिल्कुल अत्यंत पशुतुल्य वो बात अलग है उनकी सा उनके विचार नहीं करना जो मनुष्य है बहुत लोग जानते तभी सत्कर्म करते पाप कर्म नहीं करते जानते कोई फल देने वाला है तो एक ही है परमात्मा बहुत को फल देता है उसी परमात्मा का साक्षात्कार करना है कहाँ करेंगे परमात्मा कहाँ है तम आत्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरा आत्मनिस्थितम आत्मस्थम अंतकर्ण में स्थित अपने बुद्धि में स्थित है बुद्धि के साक्षी रूप से है बुद्धि को प्रकाश करने वाले बुद्धि को जानने वाले परमात्मा क्या सोचते आप क्या सोचने वाले पहले क्या आपने क्या था सोचा था सब परमात्मा प्रत्यक्ष देखते हैं त्रिकालज्ञ है सबका प्रत्यक्ष होता है दूर में पास में अतीत अनागत जो कुछ जो कुछ कर्म सब जानते हैं वही परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान शुद्ध चिन्मात्र रूप से सर्वव्यापक है वही माया विशिष्ट होकर के कर्म फल देने वाले ईश्वर है सर्वज्ञ शक्ति में सर्वशक्तिमान वही आत्म रूप से सब के हृदय में स्थित है अयम आत्मा अहम आत्मा गुड़ा के साथ सर्वभूता से स्थित परमात्मा कहते मैं ही सारे भूते में आत्मा रूप से स्थित हूँ क्षेत्र के चापि माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु सब के अंतकरण में स्थित उसको जो ये अनुपश्यंती अनुपश्यंती का अर्थ पहले हुआ था शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात साक्षात्कार करते हैं धीर विवेकी तेषा शांति उपरति शाश्वत नित्य शांति न अन्यसाम नित्य शांति प्राप्ति हुई साक्षात्कार ज्ञान होने पर ही नित्य सात्म भूतेव स्यात् अपने स्वरूप ही भूत शांति नित्य शांति नित्य शांति स्वरूप स्थित है अज्ञान के कारण अप्राप्ति का भ्रम नष्ट हो जाता है तो प्राप्त कर लेते हैं नेतर शाम अनैवम विधान ऐसा जो नहीं है साक्षात्कार नहीं करेंगे तो कुछ भी करने पर भी शांति की प्राप्ति नहीं होती है विद्वत अनुभवोपि परमानंदे प्रमाणमित्या ज्ञानियों का अनुभव परमानंद प्रमाण है ये परंपरा चलती है श्रुति तो शास्त्र है और उसी मार्ग में चल करके अनुभव करते हैं विद्वान का अनुभव भी प्रमाण इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश करे श्रुति कहती है जो इसे अनुभव करते हैं शास्त्र में कहा गया फिर अनुभव अनुभव के साथ होने से परंपरा में दृढ़ता आती है दृढ़ होता है निश्चय होता है शास्त्र प्रमाण चलता है शास्त्र के विरुद्ध में बहुत कुछ हुआ कितने लोग नहीं मानने वाले बहुत लोग है फिर भी प्रमाण चलता है लोग मानते हैं कल्प कल्प समाप्त प्रलय होने पर फिर शास्त्र वेद की अभिव्यक्ति उपदेश करते भगवान तो ही वेद चलता है जो वेद अनादिकाल से है उसके अनुसार कर्म आदि चलता है उसमें शास्त्र तो प्रमाण और विद्वान का अनुभव भी प्रमाण विद्वत अनुभव भी परमानंदे प्रमाण मित्या परमानंदे प्रमाण है बहुत बहुत महापुरुष सब छोड़ कर विरत होकर के राजा महाराजा सब छोड़ करके अरण्य गीता प्रचार करने के लिए शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे महापुरुष भी अनुभव करते हैं तभी परंपरा चलती है कोई अनुभव नहीं करे तो धीरे-धीरे सब लोप हो जाए कोई छोड़ देगा सब लोग कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता ऐसा नहीं नहीं प्राप्त करने वाले बहुत है किंतु प्राप्त करने वाले कम होने पर भी उनका उपदेश ग्रहण करते परंपरा चलती परमानंद में प्रमाण है विद्वान का अनुभव अद्वैत मत शास्त्र प्रमाण को छोड़ दे खाली अपने आप कल्पना करके लोग नहीं कर सकते द्वैत तो प्रत्यक्ष दिखता है अद्वैत के शास्त्र प्रमाण उसके बाद विद्वान का अनुभव होने से ही वो दृढ़ होता है नहीं तो द्वैत प्रपंच पूरा दिखता है इसको छोड़कर अद्वैत मत तो क्यों ग्रहण करें क्यों मानेंगे नहीं मानने वाले बहुत है किंतु चलने वाले बहुत प्राप्त भी करते हैं तो विद्वान का अनुभव भी प्रमाण श्रुति कहती है विद्वान अभिमान हो करते हैं और पहले श्रुति में भी ये न तद नस्तद विचक्षिरे इति राणा श्रुते में भी इसे कहा गया हमको आचार्य ने बताया ज्ञानियों ने तो ज्ञानियों का अनुभव तो अनुभव जब लेते शास्त्र में लेना पड़ता है लौकिक लोक से कोई कहेंगे इनको इस अनुभव हुआ क्या पता है उनको अनुभव हुआ या भ्रांत है लोक में कोई कहा हमारे गुरु ने ऐसा अनुभव क्या कोई कहा हमारे गुरु सर्वज्ञ सब अपने गुरु को सर्वज्ञ कहेंगे और सबका मतभेद है किसको हम सर्वज्ञ मानेंगे साधक निरपेक्ष किसको सर्वज्ञ क्यों मानेगा बहुत सबका मतभेद है तो सर्वज्ञ किसको मानेगा इसलिए वेद मूलक ही प्रमाण है उसके बिना नहीं कहीं महापुरुष जीवन आदि हो शास्त्र का अनुकूल हो तो ग्राह्य नहीं तो त्याज्य है जितने प्रसिद्ध हो जाए जितने बड़े बहुत लोग उनके पीछे चले शास्त्र के कुछ लोग कहते शास्त्र को छोड़कर अपना अनुभव कुछ लोग पूछेंगे आप शास्त्र छोड़िए आपका अनुभव कहिए अनुभव तो विरोचना का हुआ था क्या अनुभव था ये देह आत्मा है इसको खिलाओ पिला पोषण करो और कोई ये नहीं और कोई अनुभव करने वाले भी कोई इंद्रिय को चार वाक में मन को विज्ञानवादी बुद्धि को कहीं क्षणिक कहे यही अनुभव करते कोई शून्यवादी कोई शून्य कुछ है ही नहीं बस ये अनुभव तुच्छ है सब ये सब अनुभव भ्रांति भी होती है इसलिए शास्त्र को छोड़कर खाली अनुभव को प्रमाण मानना नहीं ना कोई कहते ना ग्रहण करना न किसी को बोलना नहीं चाहिए इस शास्त्र में से कहा गया हम तो अपना अनुभव कहते हैं लोग कह के बोलते हैं ये तो शास्त्र में कहा गया हम अपना अनुभव कहते हैं लोग सत्य बहुत अच्छे अपना अनुभव कहते बताइए अनुभव क्या है तो अनुभव क्या अनुभव तो देह में भू अय अनुभव सबको है मैं मनुष्य को अनुभव है ना नहीं शास्त्र क्या कहेंगे अपना अनुभव हम सुनाते हम मनुष्य है सबका अनुभव है ना नहीं बस बड़ा अनुभव है बहुत लोग का अनुभव है केवल एक दो का नहीं ये अनुभव भ्रांति है ये अनुभव नहीं शास्त्र ही प्रमाण है तो विद्वत अनुभव कहने के लिए शास्त्र में जैसे विद्वान का अनुभव कहा गया परमानंद प्रामाण्यतः यत्तद आत्मविज्ञानम सुखम अनिर्देश्यम निर्देश सक्यम परमम प्रकृष्टम प्राकृत पुरुष वांग मनसयो रघुचरमपि सत ते तदेतत् प्रत्यक्ष में वेति मन्यते मंत्र तदेतदिति मन्यन्ते निर्देश्यं परमं सुखं कथं तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा तदेतदिति मन्यन्ते तद एतदिति एतदिति तद एतद इति प्रत्यक्ष से मानते अनुभव करते अनिर्देश्यम परम सुखम जो परम सुख अनिर्देश्य जिसका निर्वचन निर्देश शब्द से नहीं किया जा सकता है उसका तद एतदिति मन्यते परम प्रत्यक्ष कथम नो तद विजानियाम किस प्रकार में से सुख को जानूं किम भाति विभाति वा ये ये जो ज्ञान परमानंद सुख है हमारे बुद्धि विषय तो ना स्पष्ट भान होता है या नहीं ऐसे विद्वान मानते हैं कोई विचार करते हैं और वैसे जानते हैं कुछ ज्ञानी लोग यत भाष्य में आत्मविज्ञानम सुखम अनिर्देश्यम निर्दिष्टम अशक्यम सुख है जो निर्देश नहीं किया जा सकता है परम प्रकृष्टम अत्यंत उत्कृष्ट आनंद रूपे प्राकृत पुरुष वांग मनसयो रघुचरमपि सामान्य पुरुष के वे वाणी मन का विषय है ही नहीं सन में भी सन निवृत्त ऐसना ये ब्राह्मणा निवृत्ता ये येभ्य ऐसा रहित तो ऐसा इच्छा ही सब प्रतिबंधक है झूठे वस्तु को बहुत चाहते हैं तो सत्य वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी एक सत्य ब्रह्म आत्मा उसे भिन्न सब अनात्मा मिथ्या है मिथ्या वस्तु की ऐसा पूरा त्याग करने पर ही साक्षात्कार होता है निवृत्त ऐसना बहु जन्म पुण्य कर्म करने पर उसके प्रभाव से अंतगुण शुद्ध होता है वैराग्य होता है ऐसा का त्याग होता है समत है झूठा है मरना है फिर भी इधर उधर पकड़ना इधर संगठे इकट्ठी करना कितने माया मरने का है फिर भी इधर उधर इकट्ठी करो सारा ब्रह्मांड धन संवित है उसको ला कर इधर रख दिया अपने कमरा में एक बड़ा मकान बना दिया अपना मकान मरने के बाद कौन सा मकान अपना है उसी मकान में फिर आएगा तो भगाएंगे इधर कहीं कहीं होता है बाबा करके फोटो पूजा करेंगे वही बाबा फिर भीख मंगा बन गया आएगा नारायण हरि कह के भगा कहाँ से खड़े आएगा भगाओ जिनकी फोटो पूजा हो रही है वो बाबा ने कराए उनको नहीं खिलाते भगाओ भगाओ दूर से भगाओ कभी बाबा बन कर आते कभी क्या-क्या बन कर आते हैं पाप कर्म करेगा तो खचर बन कर कुत्ता बन कर आएगा कौवा बन कर आएगा तो ये सब कर्म का फल है जैसे जैसे कर्म फल भोगना होता है जानते हैं छोड़ देने के बाद जाने के बाद इसके साथ कोई संबंध नहीं किंतु हमारे नाम हमारा मकान हमारा ये हमारे करे बड़े-बड़े मकान बना दिया नाम लिख दिया नाम लिख देने तो बोला आएंगे तो छोड़ेंगे ना नाम लिखा है तो जब भीखमगा बनकर आया शिष्य शिष्य के शिष्य लोग भक्त लोग उनको बुला कर लाएंगे कोई कहेगा हाँ, देखो मैंने बनाया था मेरा नाम लिखा है उसमें पता नहीं क्या किसका नाम किस जन्म में था किस जन्म अभी क्या बना है तो भी इकट्ठी करते ये माया ये सब कुछ नहीं होता है स्नेह ऐसा ऐसना का त्याग करना चाहिए कुछ नहीं चाहिए परमानंद अपना स्वरूप है उसको साक्षात्कार करने के लिए निवृत्त ऐसा ही कर सकते हैं ये प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षमेव इति मन्यन्ते प्रत्यक्षमेव इति मन्यन्ते कुछ कुछ लोग ऐसे व्याख्या करते हैं आत्मा का अपरोक्ष होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है प्रत्यक्ष नहीं होता तो मतलब इंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है ठीक है अपरोक्ष कोई अर्थ अलग करते प्रत्यक्ष क्योंकि अपरक्ष अनुभूति में अपरोक्ष शब्द आया प्रत्यक्ष नहीं आया इसे प्रत्यक्ष नहीं होता है किंतु अपरोक्ष होता है अपरोक्ष भी प्रत्यक्ष के अर्थ में प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ जो अक्षणाम अक्षण अक्षी प्रति अक्षी अक्षी प्रति अक्षय अक्षिणी अक्षिणी प्रति इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है इसमें प्रसिद्ध है किंतु वो नहीं है जो इंद्रिय ग्राही इंद्र से होगा जो अनिंद्रिय ग्राही इंद्र ग्राह्य नहीं उसका भी स्वयं प्रकाशन से प्रत्यक्ष तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता है कहना प्रत्यक्ष अपरोक्ष शब्द प्रयोग होता है ज्यादा लोक में सामान्य प्रसिद्ध यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म किंतु यहाँ का तदेत प्रत्यक्ष में भी ति मन्यन्ते आत्म तत्व जो आनंद रूपे ब्रह्म है तदेतत प्रत्यक्ष में भी मन्यते तदेतत इति मन्यते कहा तो प्रत्यक्ष में तो प्रत्यक्ष भी कहा जा सकता है कोई विरोध नहीं है तो प्रत्यक्ष का अर्थ नहीं कि आंख से दिखेगा अपना स्वरूप ही प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है उसके अपेक्षा और है साक्षी प्रत्यक्ष कहती इस प्रकार सुख दुख सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है आंख से होता है हाथ से आंख से देखना पड़ता है हाथ लगाना पड़ता है सुख दुख को देखना पड़ता है न्यायिक लोग है कि मन से प्रत्यक्ष होता है मन को इंद्रिय मान करके वेदांत के अनुसार सुख दुख मन का ही धर्म मन का परिणाम है उसको मन क्या ग्रहण करे स्वयं मन ही सुख दुख बन गया साखी वास्य कोई प्रकाश स्वयं प्रकाश प्रमाण व्यापार के बिना प्रत्यक्ष होता है प्रमाण व्यापार से प्रत्यक्ष होता अलग यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ये प्रमाण व्यापार के बिना अपरोक्ष है आप मैं हूं करके निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई कहेगा तुम बैठे हो तभी सब पता चलेगा नहीं तो पता चलेगा हैं पता चलेगा क्या पता चलेगा हम बैठे हम है पता चलता है वो प्रमाण व्यापार के बिना प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष का अर्थ नहीं कि आंख से दिखता है आंख से दिखना नहीं पड़ता हाथ भी लगाना नहीं पड़ता इधर-उधर मैं हूं करके केंद्र निश्चय इसी प्रकार प्रत्यक्ष होता है अहम अस्म परम ब्रह्म कथम तो केन प्रकारेण तत्सुखम हम बिजानिया किस प्रकार सुख को मैं जान लूं इदम इति आत्मबुद्धि विषय आपादेयम इदम तेन आत्मबुद्धि विषय प्राप्त करूं यथा निवृत्तेषण यतः जैसे निवृत्तेषण जिनकी ऐसा निवृत्ति हो गई यतिलोक को जैसे ज्ञान होता है इस प्रकार कैसे मैं साक्षात्कार करूं किम भाति विभाति वा किम तद भाति भादीप्तो दीप्यते प्रकाशात्मकम तद भान होता है यतो अतो अस्मद बुद्धिगोचरत्वन विभाति प्रकाशात्मक है हमारे बुद्धि विषय होकर विशेषण भाति नवा विस्पष्टम दृश्यते किम विभाति वा किम भाति विभाति वा विस्पष्ट दिखता है या नहीं विस्पष्ट ज्ञान होता है नहीं ऐसे विचार करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो निवृत्तेषणा उसका अनुभव साक्षात्कार करते ही है इसलिए ये प्रमाण है कि के कोई स्वरूप हम अस्मि परम ब्रह्म जो नियंता परमात्मा वही मैं ही हूँ वाच्यार्थ में भेद है लक्ष्यार्थ है कि ये जब परमात्मा मैं हूँ अहम ब्रह्म सर्वत्र वाच्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ में एकत्व तो है ब्रह्म सद का वाच्यार्थ ईश्वर है अहम अस्मि अहम अस्मि परम ब्रह्म कहते समय शुद्ध चेतन में हूँ लक्ष्यार्थ है वाच्यार्थ का भेद है उपाधि के कारण उपाधि के भेद औपाधि के भेद से उपाधि के छोड़ दिया तो शुद्ध स्वरूप एक है ऐसे साक्षात्कार करते हैं ये प्रमाण है इसमें है जो धर्म धर्म से विलक्षण कालत्रय परिचिन्न नहीं है आत्मा के अस्तित्व में प्रश्न पूछा था उसका उपदेश कर दिया महाराज शुद्ध चेतन आत्मा नित्य जो कि चेतन चेतना नाम अविनाशी में अविनाशी तत्व वही प्रत्यक्ष होता है ज्ञानी लोगों का विद्वत अनुभवपि परमानंदे प्रमाणम ये हुआ था चौदह हाँ अनंत हाँ तस्माद असंभावितया न जिहासितव्यम परमानंद परमात्म दर्शनम किंतु धानतया विचारितव्यम एव इत्याह असंभावितया बहुत लोग कहते असंभव करके छोड़ देना बड़ा सरल है सिखाते भी अरे ये क्या होगा हम बताएंगे ये कुछ नहीं होने वाला और क्या हम शक्तिपात कर देंगे ऐसे हम समाधि बता देंगे ऐसे हो जाएगा दस हो जाएगा हम बता देंगे गाढ़ा खोद करके बैठो कोई कोई इसे बताए गाढ़ा खोद कर बैठो बस ऐसे के यहाँ तक मिट्टी में बैठ जाओ अब सर्वता आसन में रहना पड़ेगा फिर आगे रहने के बाद हम भय करना व्याघ्र आएगा सिंह आएगा ऐसा आएगा उसके बाद भगवान आ जाएंगे लोग ऐसे सिखाते कुछ नहीं करने वाले झूठ बोलने वाले कुछ लोग सोते ऐसा हो जाएगा व्याघ्र सिंह आ जाएगा व्याघ्र सिंह क्या कोई मेढक भी सर्प भी आ जाए तो भी अच्छा लगेगा क्या हाँ, चलो कुछ आ गया कभी कोई जाए बैठ गया सब कुछ होता है कुछ को जाकर के भगवान मंदिर पड़ गया ना व्याघ्र हुआ कुछ नहीं ना सोचा एक सांप भी आ जाए तो भी अच्छा है ना सांप दिखता ना मेढक दिखता है <laughs> कभी-कभी आ जाता है सर्प बिना कारण कोई समाधि लगाना पड़ता है समा सर्प है तो समाधि के बिना आ जाता है या नहीं तो जाकर बैठो ध्यान करो तो भी कुछ नहीं दिखता है ये सब बहुत प्रकार कहते ये जिहासितव्य त्याग नहीं करना असंभव करके साधन नहीं करने से असंभावना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं तो तो लगेगा असंभावना पहाड़ में चढ़ते जाते चढ़ते जाते बहुत दिन चढ़े कहते कहाँ बद्रीनाथ कुछ नहीं दिखता है पांडु के सर वापस आ गए चढ़ते चढ़ते गए यदि दो तीन दिन में नहीं मिला तो आगे मिल सकता है एक है इतने दिन दो चार साल हमने इतने बहुत साधना हमने किया कुछ नहीं हुआ क्या होगा बहुत साधन क्या बहुत साधन अनेक जन्म के साधन करते करते ही आगे होता है ये असंभव नहीं है जो प्राप्त करना चाहता है प्राप्त कर सकता है अभी पैदल जाते हैं वहाँ से गोमुख से गंगा जल लेकर के रामेश्वर में चढ़ाने वाला अभी भी करते हैं जो जा चलता है कर सकता है और नहीं जाने वाला ना तो आगे जा सकता है पाँच किलोमीटर ना इधर जा सकता है जो चलता है पूरा लेकर चलता है तो इसमें असंभावना सोच करके असंभावित है न जिहासित छोड़ना नहीं चाहिए परमात्मा दर्शन बहुत लोग सोते असंभव है छोड़ करके प्रपंच में लग जाते हैं किंतु क्या करना चाहिए शब्द धानतया विचारी भी त्या श्रद्धा पूर्वक शास्त्र में कहा गया अवश्य ही साक्षात्कार होता है करने से होगा लगना चाहिए वही साधन है अन्य कोई सरल साधन नहीं है अन्य कोई साधन कहेंगे तो बहुत दूर वाले साधन है सबसे श्रेष्ठ साधना विचार श्रवण मन निधिध्यासन लगातार करते रहना चाहिए विचारितव्यम एव इत्याह कथम न तद बीजानिया कैसे उसका साक्षात्कार करूं ऐसे भावना करके लगना चाहे लगते रहे लगने से सिद्ध होता है नहीं करने पर कुछ नहीं भात भी नहीं पकेगा भात हो गया थोड़े देर पानी गर्म कर आग बुझा दिया कहाँ भात होता है हमने बहुत देखा ऐसे ही कच्चा चालू रहा भात होता ही नहीं गर्म कर तो होगा गर्म नहीं कर तो होगा क्या पानी में डाल दिया थोड़ी गर्म कर बुझा दिया बैठा दो चार घंटा भात कितने समय भात बन जाएगा नहीं होगा अगर गर्म करो तो 15 मिनट में हो जाएगा नहीं करो तो नहीं होगा लगने पर साधन नहीं करे तो सामान्य कार्य भी नहीं सिद्ध नहीं होता है सामान्य कार्य के लिए भी कुछ उसका साधन नियम के अनुसार करना पड़ता है और साधन नहीं करके अन्य प्रकार करेंगे तो नहीं होगा इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए भी शास्त्र में कहा गया आचार्य उपदेश करते जो मार्ग उस पर चलने पर ही प्राप्ति होगी इसलिए श्रुति कहती यहाँ भी श्रुति इसलिए कहती कथम कथम तद जानिया ये कहने का अभिप्राय असंभाव कर छोड़ना नहीं चाहिए श्रद्धापूर्वक विचार करना चाहिए और विद्वान का अनुभव इसमें है प्रमाण ओम सहना